आज हम को क्या करना चाहिए इस संबंध में आपने प्रेरणाप्रद उपदेश सुना अब हम एक अन्य विषय को सुनने सुनाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा बीच बीच में कुछ लहर दूसरी भी आती रहे तो वेद मंत्र का पाठ करेंगे पहले ध्वन वही होगी जो योग शिक्षण शिविर में भाग लेने वालों को सिखाई गई ดี कामोदीरो अमृत स्वयं को रसे न लिए क्षत्रिय शक्ति के साथ में ये ब्राह्मण शक्ति जो जुट जाती है ये ब्राह्मण शक्ति की लहर है तब ये दोनों सफल होते हैं और हम क्या बोलते हैं अब बोलना भी सीख लो सबको बोलना भी नहीं आता परमात्मा सभी सू दार है उसे को बता वह दुखियों का हम दर्द अकेलों का साथी श्रुति जिक दादार है उसे को बताती अजर है अमर है शरण उसकी आओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ अजर है अमर है शरण उसकी आओ अच्छी तरह बोलो नींद भी उतरेगी है कागर में सागर भरा वेद वाणी ऋषियों द्वारा गई जो बखानी है कागर में सागर भरा वाणी चऊ द्वारा गई जो बैठाई उसी दीप से मन का दीपक जलाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ उसी दीप से मन का दीपक जलाओ तो गमन से सभी छूट वह आनंद घन है सकल दुख हरैया पितु माता वही सखा और भैया वह आनंद घन है सकल दुख हरैया पितु माता वही है सखा और भैया उसी से करो प्रीत प्रीतम बनाओ सभी छूट जा उसी से करो प्रीत प्रीतम बनाओ तो आवागमन से सभी छूट आवाज को ठीक करो खराब कर देते मिठाई को योगी समाधि में जिसको पुकारे जमाने के वैभव की साना विसारे योगी समाधि में जिसको पुकारे जमाने के वैभव की जाना विशाल उसी में लगन सब तुम्हें भी लगाओ तो आवागमन से सभी छूट जाओ उसी में लगन सब तुम्हें भी लगाओ सभी छूटे समझ रखिए निश्चित बात है परमात्मा के साथ आबद्ध होकर के मोक्ष को लक्ष्य बना करके व्यक्ति जब चलता है तब व्यक्ति अपने जीवन में मोड़ दे सकता है और दूसरों के जीवन में मोड़ आता है इसलिए हम जो सफल होना चाहते हैं तो हमको जानना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि ईश्वर का हमारा क्या संबंध है थक गए होंगे आप एक एक विद्वान नई से नई ऐसी बात सुनाता है उसको आप अपने पास रखते जाइए और याद रखो आपको शिकाया बताया जाता है उन संबंधों को साथ में जोड़ो फिर परमात्मा से जोड़ो आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य ज्ञान विज्ञान इतना आएगा आपको कोई मार तो सकता है पर रोक नहीं सकता ये सारी कमजोरी ये व्यक्ति के अंदर निर्बलता जो आई और ये व्यक्ति डरता फिरता है बड़े बड़े लोगों से सरकारों से दूसरों से ये ईश्वर की भक्ति छोड़ने से आई है ईश्वर से संबंध कट गया कहना और है करना और है इससे काम नहीं चलता ध्यान देना ईश्वर के हमारे कितने संबंध है संबंध तो बहुत है पर पांच को तो याद करोगे ना कर लोगे जी बोलो पहला और ईश्वर का हमारा संबंध क्या है ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के बोलते रहना ईश्वर हमारा पिता है हम ईश्वर के तीसरा संबंध ईश्वर हमारा आचार्य हम ईश्वर के चौथा संबंध ईश्वर हमारा उपासक है नहीं उपास्य है और हम ईश्वर के उपासक है पांचवा सम अब आप वाली बात कह दो ईश्वर हमारा राजा है और हम उसकी इतनी याद कर लोगे तो देश का भला हो जाएगा पर इनको तो क्रिया उतारना कभी वो पहेली आएगा जाल बिछाएगा तनुल बिखेरेगा छुप के बैठेगा फंसना ये मत कर देना अच्छा चलो इस बात के साथ साथ अपने कल्याण के लिए आई ने कहा भाई ब्राह्मण का दांत में चल रहा नहीं क्षत्रिय का चल रहा था तो उन्होंने फिर जोड़ दिया कि आध्यात्मिक प्रवचन के साथ जोड़ दो जोड़ू मैं आप थक तो नहीं जाओगे वैसे मैं आपको छेड़ता रहूंगा बीच बीच में पर इसका यह अभिप्राय नहीं लेना कभी केवल हंसी की बात है बस याद रख लेना एक दृष्टांत दूंगा तो समझ में आ जाएगा हम छोटे छोटे बालक थे ना जब और ज्वर हो जाता ना ज्वर का मतलब ताव क्योंकि ताव हो जाता था तो मां क्या करती थी वो कुरेन की गोली लपेटती ऊपर से गुड़ लपेट देती थी गुड़ और हमको लोभ होता खाता मीठा लगता बच्चे को खाते तो हमसे तो इतना धोखा होता इतना कड़वा थूके तो मुस्कट तो ध्यान देना ये आपको न सो जाओ रोचक बनाया जाता है ऐसी गुड़ में लपेट के गोली खिलाऊंगा सारी बीमारी दूर हो जाए अब ध्यान दो जिस महर्षि दानंद की बात चली देश जाति के लिए जीवन लगाया और हमको प्राचीन परंपरा को बताया कि देखो हम ये थे उस महर्षि दान सरस्वती जी ने कितने नियम बनाए देखो जिसने रोटी यदि ली होंगी उसको तो समझ में आएगी नहीं मेरी बात अब पर आना निश्चित है वो पांच संबंध है और कैसा है वो ईश्वर जी से संबंध है आचार्य समाज के नियमों को दोहराओ पहला नियम आरंभ कर आप ही बोलो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल एक बात है व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है वो वहीं दौड़ लगाता है लगाने की चाहिए उसका क्षेत्र है वो तो हम कहां दौड़ लगाते हैं बोलते बोलते या तो समाधि की लगाएंगे या दर्शन की लगाएंगे या विज्ञान भौतिक विज्ञान की लगाएंगे जितना हमसे उसका संबंध है ध्यान दो ऋषि के क्या शब्द है एक एक शब्द पर एक ना ध्यान देना यह आध्यात्मिक स्थिति है पहले क्या कहा ऋषि ने सब सत्य विद्या अच्छा सब शब्द का प्रयोग क्यों हुआ बताओ नहीं पता चाहे वो भौतिक विज्ञान हो चाहे आत्मा संबंधी विज्ञान विद्या हो चाहे ईश्वर संबंधी विज्ञान हो सबका क्या हुआ सारी सबका क्या हुआ बोलो सारी विद्या सबका बहुवचन है जितनी भी धरती पर विद्या हो सकती है या की रहेंगी सबका ऐसा न जानना मानना केवल आत्मा परमात्मा की बात परमात्मा जानता होगा भौतिक विज्ञान की कोई चर्चा नहीं बिल्कुल गलत होगा याद रखना जितनी भी विद्या हो सकती है या थी आज है समस्त सबका सब अच्छा ये बतलाओ ये तो समझ में आ गया भौतिक विज्ञान आत्मा परमात्मा संबंधी मुक्ति सारा का सारा सब कुछ का ये राजनीति सारा जितना विज्ञान है सब कार्य ये हुआ अच्छा सत्य विद्या क्यों लगाया बोलते रहो थोड़ा थोड़ा है जी फिर से मैं दोहराता हूं सब सत्य नहीं किया ये सत्य क्यों लगाया मैं बताता हूं ध्यान देना मैं और आप उल्टा भी सोचते हैं उल्टा जानते हैं भ्रांतियां होती हैं उल्टे ग्रंथ लिखे जाते हैं सैकड़ों और हजारों बातें उल्टी फैलाई जाती हैं ध्यान देना ऐसी ऐसी बातों का उल्टी बातों का आदि मूल कौन है जीवात्मा जीवात्मा ज्ञान विज्ञान की सही बातें तो करता है और कितनी उल्टी बातें करता उल्टी लिखता उल्टा जानता है याद रखना सत्य लगा के कहा ऋषि ने सत्य विद्याएं जितनी है उनका आदि मूल परमेश्वर है विपरीत ज्ञान का आदि मूल इतना तो समझ में आ गया कहां तक पहुंच गए हम सब सत्य विद्या अच्छा दूसरी बात और सामने आई ये उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ जितने विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है अच्छा वैदिक धर्म में कितने पदार्थ माने जाते हैं बोलो तीन कौन कौन से ईश्वर एक जीवात्मा दो प्रकृति तो कितने पदार्थ बना दिए तीन अच्छा यदि ये कहा ऋषि ने सारे पदार्थों का मूल आदि परमेश्वर है तो क्या परमात्मा पदार्थ नहीं है बोलो कुछ को कम पता होगा जहां हमारा पाठ चलता है वहां तो उनको सिखाया गया पदार्थ परमात्मा जी पदार्थ है अच्छा मैं आपसे वैसे एक परीक्षा की दृष्टि से पूछूं आपका ध्यान आकृष्ट हो मैं आपसे ये पूछ लो जो साधक है वो तो जानते कि परमात्मा कोई चीज है क्या अच्छा जो चीज नहीं मानते हाथ खड़ा करो अभी इतना साथ नहीं आया अच्छा जो तो चीज मानते हैं आज खड़ा करो ये तो बात बहुत अच्छी है जी ठीक है ईश्वर एक चीज है ईश्वर एक पदार्थ है ईश्वर एक वस्तु है ईश्वर एक द्रव्य भौतिक वैज्ञानिक इसको मैं गति नहीं रखता तैयार नहीं है अभी वो जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है और उसकी कथा क्या है आप ईश्वर को पदार्थ तो प्राय नहीं मानते होंगे तो सिखाया गया है वर्षों से भाई परमात्मा पदार्थ है परमात्मा चीज है कहते चीज भी परमात्मा होती है कभी चीज हो ही नहीं सकती मैंने कहा क्या है चीज का अभाव है परिभाषा अधूरी बन गई भौतिक वैज्ञानिकों ने पठन पाठन में इतना ही सिखाया इतना ही रचवाया जो तरल हो भार हो रूप हो लंबाई चौड़ाई हो यंत्रों से अधिकता हो इत्यादि लक्षण किया कि वो द्रव्य वो वस्तु होती है पर यहां वैदिक परिभाषा वैदिक परंपरा में यह वस्तु तत्व नहीं है अर्थात जिसमें गुण रहते हैं उसका नाम वस्तु है चीज है पदार्थ है दोहरा लो जिसमें गुण रहते हैं वह वस्तु है वह चीज है वह पदार्थ है वह द्रव्य है यह व्यापक परिभाषा है कोई द्रव्य वस्तु चीज गुणों से रहित नहीं होती और इसी भांति भौतिक पदार्थ है देखो जल शीतल है तरल है रूप है तो जल एक पदार्थ वस्तु है अच्छा परमात्मा में कौन सी चीज है जो परमात्मा को पदार्थ माना जाए बोलो याद नहीं मैं याद दिलाता हूं आनंद गुण किसका है और ज्ञान गुण किसका है और बल गुण किसका है ये गुण नहीं है क्या परमात्मा यदि ज्ञान आनंद ये गुण ईश्वर में है तो ईश्वर एक वस्तु है ईश्वर एक पदार्थ है ईश्वर एक द्रव्य है ध्यान दो ऋषियों के ग्रंथों को जो नहीं पढ़ते हो प्राय इधर उधर की बात मिलाते रहते आपसे मैं पूछू विद्वानों से नहीं पूछा जाता मैं आपसे पूछू महर्षि दान सरस्वती जी ने कहा लिखा है परमात्मा वस्तु है आपका स्वाध्याय जाएगा परीक्षण होगा बताओ क्या पूछा मैंने ऋषि ने गाय लिखा हो ईश्वर वस्तु है नहीं तो याद रखो आर्य दृष्टि रत्नमाला में सौ सिद्धांत ने पहले सिद्धांत में ईश्वर को वस्तु देखा है हम्म, किसी ने कहा तीन पदार्थ नादी मैं तीन पदार्थों का नादी मानता हूं ईश्वर जीव प्रकृति अच्छा अब हम वहीं चलते हैं परमात्मा आदि मूल है सारे पदार्थों का तो इसका क्या अर्थ है बताओ परमात्मा का मूल परमात्मा है जीवात्मा का मूल बोलो परमात्मा है और प्रकृति का मूल तो क्या अर्थ निकला जी नहीं आया पता नहीं लगा सभी पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है और ईश्वर भी पदार्थ है जीवात्मा भी पदार्थ है और प्रकृति भी पदार्थ है तो अर्थ क्या निकला हाँ, परमात्मा का भी मूल परमात्मा और जीव का भी मूल परमात्मा और प्रकृति का भी मूल तो तीन अनादि नहीं रहे थे एक ही अनादि रह गया हाँ ठीक है ना ये ये को स्वामी जी पता नहीं बोलो पता नहीं भाई तो यही थी कुछ तो बोलो आदि मूल ये भ्रांति लोगों ने फैलाई लिए लगे ईश्वर को एक को मान लो न जीव मान जीव को मानने की आवश्यकता न प्रकृति को भ्रांति विदेश तक चली गई मिथ्या ज्ञान ईश्वर इस सबका आदि मूल है याद रखिए जिसको आदि मूल कहा जाता है वो अपना मूल नहीं होता मूल ए मूला भाव भावात मूलम मूलम मूल का मूल होता नहीं इसलिए उसका मूल का मूल हो ही नहीं सकता इसलिए ईश्वर तो मूल है पर याद रखना अच्छा ये छोटो परमात्मा का मूल ईश्वर तो नहीं हो सकता पर जीवात्मा का मूल तो हो सकता है हैं? जीवात्मा पदार्थ है या नहीं नहीं है और प्रकृति है जी हाँ प्रकृति पदार्थ है या नहीं पदार्थ है तीनों पदार्थ याद रखना जीव का आदि मूल परमेश्वर नहीं है प्रकृति का आदि मूल परमेश्वर नहीं है ये तीनों अनादि है सत्संगी लोग ध्यान देंगे ये कौन बच गया जिसका आदि मूल परमेश्वर है बोलो आपकी भी दिमाग की शक्ति बुद्धि का व्यायाम होना चाहिए हम तो रेडी से चोटी तक का जोर लगाए आप बोलने के लिए तैयार नहीं जो आता हो कहो नहीं आता तो कोई बात नहीं वो कौन से पदार्थ बच गए जिनका आदि मूल परमेश्वर है अब ये कहो स्वामी जी पता नहीं बोलो अपने विवेक भूषण जी जब दर्शन पढ़ते थे प्रचार भी करते थे कहीं आश्रमों में जाते आते थे तो चर्चा चलती ही रहती थी तो कई बार मैं उनसे प्रश्न पूछता विवेक जी ये बतलाओ ये क्या सिद्धांत के अनुकूल है प्रतिकूल है उनसे असावधानी के कारण नया नया वो दार्शनिक विषय था वो उत्तर दे देते थे और उत्तर थोड़ा सा ठीक नहीं बैठता था एक बार हुआ दो बार हुआ विवेक जी सोचने लगे बड़ी कठिनाई पड़ गई है तो वो उन्होंने प्रयोग किया क्या किया जिस बात का उत्तर उनको नहीं आता था झट कहते थे स्वामी जी मुझे पता नहीं बस ये मार्ग निकाल लिया और अब <laughs> बोल नहीं जाओ निकाल लिया अब ध्यान दो धीरे धीरे चल रहे आप देखो दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय है ये इतना मोटा तो है नहीं आपको रस आएगा और नींद भी नहीं आएगी आप ये बताओ वो कौन सी चीजें बच गई जिसका आदि मूल परमेश्वर है आदि मूल परमेश्वर का परमेश्वर नहीं है जीवात्मा का आदि मूल भी परमेश्वर नहीं है प्रकृति का आदि मूल भी परमेश्वर नहीं है ध्यान दो प्रकृति से जितनी वस्तुएं बनी है जितनी चीजें बनी है उनका आदि मूल परमेश्वर है बोलो दोहराओ किनका आदि मूल परमेश्वर है प्रकृति से जितनी वस्तुएं बनी है जितनी चीजें बनी है उन सबका आदि मूल अब मोटी मोटी बातें गिनाता हूं कपिलाचार्य सांख्यकार ने एक बात कही कि भाइयों सुनो ये संसार कैसे बनता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है दिन में जैसे चर्चा चली थी सत्व सत्वरजतम साम होता प्रकृति सत्व तम तीन द्रव्य तीन पदार्थ सूक्ष्मतम जिसे पूरा विश्व बनता है ईश्वर ने उन तीन को लेकर बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक महत्व महतत्व नामक पदार्थ को निर्मित किया उस महतत्व नामक तत्व से अहंकार नामक तत्व को उत्पन्न किया अहंकार नामक तत्व से ध्यान देना पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच इंद्रिया एक मन पांच तनवात्रा बोलो पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच इंद्रिया एक मन पांच तन्मात्रा कितने हो गए अहंकार नामक तत्व से ये सोलह पदार्थ निर्मित किए ईश्वर ने जन्म दृष्टांत सुना था कुमार का नहीं उनमें ग्यारह तो जो के त्यू रहे उनमें कोई अंतर नहीं आया ईश्वर ने जो बनाए थे कौन से ग्यारह मेरे साथ चलते जाओ नींद भी नहीं आएगी याद भी हो जाएगा ग्यारह कौन से पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेन्द्रिया एक ये ग्यारह तो ज्यो के त्यों रहे दस ये और एक और परंतु पांच जो थी तन मात्रा ऊन को लेके पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश बनाया ईश्वर ने ध्यान दो और पृथ्वी जलवायु आकाश है ये आपको पिंड अंतिम पिंड है ये हमारा अब आपको क्या पता चला बताओ किसका आदि मूल परमेश्वर है बोलो अब अपनी बुद्धि से चलो मैं फिर दो रहा हूं जी मैं तत्व का आदि मूल परमेश्वर है बनाने वाला और अहंकार का रचयिता आदि मूल परमेश्वर है अहंकार से बनने वाले सोलह पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है और इसके पीछे तन्मात्राओं से बनने वाले पृथ्वी जलवायु का आदि मूल अब क्या समझ में आया बोलो नहीं प्रकृति से जितनी चीजें बनती है जितनी वस्तुएं बनती है आदि मूल परमेश्वर है पर ये भौतिक वैज्ञानिक हो चाहे नास्तिक हो ये कहते ही अपने आप बन जाए संसार शत प्रतिशत झूठ बिल्कुल निराधार आडंबर कुछ भी कह लो ये सबसे बड़ा भयंकर पाप है व्यक्ति बिना सोचे समझे इतनी वैज्ञानिक चीजों को ये कहने लगे कि अपने आप बन गए यदि आप इस विषय पर विचार करेंगे विवेचन करेंगे निश्चित रूप में ना, नास्तिकता को छोड़ देंगे आस्तिक बन जाएंगे कोई प्रयोग करके देख लो मैं यदि यह कहना चाहूं मेरे जीवन में मोड़ कैसे आया मैंने जो विवेचन किया था मंथन किया था यही विषय थे मेरे सामने ये जो मैं आपको सुना रहा हूं एक विषय उनमें यह था यह शरीर की रचना ये उंगलियां आंख नाक मैं इसको सोचता और मैं विचारता था मां नहीं बना सकती पिता नहीं बना सकता कोई दूसरा नहीं बना सकता मैं मेरा कहता हूं अपने शरीर को मैंने खूब मंथन किया अंत में निश्चित सार निकाल डाला कि वस्तुतः तो न मैं बना सकता न मेरा है शरीर न मां बना सकती ये ईश्वर तो ये तो परमात्मा इस परिणाम पर पहुंच गया कहना और बात है मंथन करने के पश्चात निश्चित हो जाना और वैसा ही मोड़ देना वास्तविकता इस बात में है ध्यान दो जो व्यक्ति प्रमाणों से सिद्ध बात को ग्रहण नहीं करता क्या समझे मैंने आप बोलने से कुछ समझ में नहीं आएगा प्रमाणों से सिद्ध सत्य को ग्रहण नहीं करता और प्रमाणों से सिद्ध असत्य को नहीं छोड़ता वो कभी भी व्यक्ति अपने जीवन में दूसरे के जीवन में मोड़ नहीं दे सकता मोड़ आएगा ही जिसकी करनी और कथनी में विरोध है ज्ञान के विरुद्ध है वो व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं बना मैं आज है और मैं आगे बनेगा मैं सुना रहा था अनुभूति ध्यान देना मोटी घटना है उसका उल्टा अर्थ नहीं करना खेतों में बाजरा बोते हैं यहां भी बाजरा बो रखा है वहां भी बाजरा बो रखा था जहां मैं सोचता था वहां भी बाजरा बो रखा था क्या समझवाया जिन दिनों में इस विषय का मंथन करता था और याद रखना मेरी अवस्था अठारह उन्नीस वर्ष की थी और विद्यालय में एक दिन पढ़ने के लिए नहीं गया किसी से बात ऐसे सीखा था कह का कबूतर कह का खरगोश एक ही मिली उसने सुनाया इसने सुनाया उसने सुनाया बारह खड़ी ऐसे रटी और उसको फिर कमल ऐसे थोड़ा इससे आगे मुझे कुछ विद्यालय में एक दिन ध्यान दो मेरी प्रशंसा की बात नहीं है तत्व खोजने की बात सुना रहा हूं मैं तत्व की खोज कैसे होती ये प्रश्न उत्तर चलता ही जाता था बहुत सी बातें थी उसमें एक प्रश्न ये था ये संसार किसने बनाया हम अपना कहते हैं आदिमूल परमेश्वर है आर्य समाज के नियम में दो बातों का दो का किसका क्यों जी आगे वाले बिल्कुल नहीं सोना पीछे वाले भले ही सो जाएंगे <laughs> <laughs> अच्छा ये बात है समय हुआ है नहीं ये बता दो हो गया तो फिर बंद करना चाहिए तो मुझे बता दें अच्छा सुनो ये मैं आपको सुना रहा था ये मंथन व्यक्ति को विवश कर देता है और मैं आपको बताता हूं मुझे बिल्कुल विवश कर दिया मेरा नहीं ईश्वर का है ये मैं और मेरा बिल्कुल गलत बात है आदि मूल का यह अर्थ लेना आप सारा धन संपत्ति सौंप देंगे देश के लिए ये परिणाम निकलेगा व्याख्या करने का समय नहीं है ये जो व्यक्ति सत्य विद्याओं का और सारे पदार्थों का आदि मूल मन से वचन से और आचरण से ईश्वर का मानता है वह सर्वस्व की आहुति निष्काम भावना से देश के लिए विश्व के लिए देता है परिणाम निकलेगा और वह व्यक्ति योगी बनेगा सत्यवादी सत्यवादी बनेगा आज समाज के एक ही नियम से दुनिया पटल पलट जाती है अब विराम की ओर भी चलना चाहिए <laughs> ठीक है क्योंकि इतना गंभीर विषय है फिर भी ईश्वर संग ने छोड़े मानव ईश्वर संग ने छोड़े ईश्वर संग ने छोड़े मानव ईश्वर संग मैंने जो